और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि ये कुरान तो कुछ भी नहीं बस एक मनगढ़ंत चीज है जो इस शख्स ने घड़ ली है और इस काम में कुछ और लोग भी उसके मददगार बने हैं इस तरह ये बात कहकर ये लोग बड़े जुल्म और खुले झूठ पर उतर आए हैं